ए पैगंबर इन मुशरिकों से कहो कि कौन है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिस्क पहुंचाता है या भला कौन है जो सुनने और देखने की कुवतों का मालिक है और कौन है जो जानदार को बेजान से और बेजान को जानदार से बाहर निकाल लाता है और कौन है जो हर काम का इंतजाम करता है तो ये लोग कहेंगे कि अल्लाह तो तुम उनसे कहो कि क्या फिर भी तुम अल्लाह से नहीं डरते